ए पैगंबर उनसे कहो कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जिस बात को तुम बुरा समझ रहे हो उससे ज्यादा बुरे अंजाम वाले कौन हैं ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फिटकार डाली जिन पर अपना गजब नाजिल किया जिनमें से लोगों को बंदर और सुअर बनाया और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना भी बदतरीन है और वो सीधे रास्ते से भी बहुत भटके हुए हैं